अनसुलझी गुत्थी दोपहर में चार बजे के करीब विक्रांत को उस अदृश्य शक्ति मिस्टर आवाज फिर से सुनाई पड़ी उसे बताया गया कि आज का काम पूरा हुआ और इसमें उसकी परफॉर्मेंस बहत्तर प्रतिशत रही इसके साथ ही उसे एक और गायब होने वाला यंत्र मिला उसे खोलकर देखने पर विक्रांत को एहसास हुआ कि ये फिर से पिछली बार की ही तरह एक ट्रैकिंग डिवाइस है क्या है ये कुछ नया और मजेदार क्यों नहीं लेकर आते थोड़ी निराशा के साथ ही विक्रांत को अब उस अदृश्य शक्ति के बारे में कुछ चीजें पता चल रही थी अभी तक वो इसके पूरे नियम को जाने बगैर तीन बार इसका इस्तेमाल कर चुका था इन तीन बार में उसने जो जो बातें महसूस की थी उसे वो एक नोटबुक पर नोट करने लगा तीन बातें उसने नोट की पहली तो ये कि ये अदृश्य शक्ति दिन में सिर्फ एक बार ही एक्टिव होती थी और एक्टिवेट होने के बाद उसके रुकने का समय कुछ निर्धारित नहीं था लेकिन इसके खत्म होने का समय उसके टास्क के खत्म होने के समय के अनुसार कम या ज्यादा होता था दूसरी बात जो भी टास्क या एडवेंचर वो करता था वो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता था जैसे कि आज सुबह उसे लगा था कि इस अदृश्य शक्ति की मदद से वो कटे हाथ वाला केस सॉल्व कर लेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसके बजाय आज उसे जिया मिली और फिर वो ऊंट की मदद से उस चोर को पकड़ने में सफल हुआ और तीसरी बात वो अदृश्य शक्ति जो बात बोलती थी उसका कुछ ना कुछ छुपा हुआ अर्थ जरूर होता था जैसा कि उसने कहा था कि उतार चढ़ाव वाले रास्ते जिससे उसका मतलब ऊंट की सवारी से था इसका मतलब वो अदृश्य शक्ति विक्रांत को आगे घटित होने वाली घटनाओं का पहले ही संकेत देने की कोशिश कर रही थी उस अदृश्य शक्ति ने झील की लहरों और पहाड़ की बात की थी इसका भी कुछ ना कुछ मतलब जरूर था अगर विक्रांत उस अदृश्य शक्ति द्वारा कहे जाने वाले शब्दों की पहली को सुलझा सके तो वो आसानी से अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है इसके साथ ही वो उस अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल अच्छे से कर सकता है और अपने सक्सेस रेट को भी बढ़ा सकता है अगर वो उस अदृश्य शक्ति के बारे में और कुछ पता लगा सके तो उस शक्ति को पूरी तरह से अपने वश में कर सकता है और उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने हिसाब से और अपने मन चाहे काम को पूरा करने में कर सकता है फिर विक्रांत का दिमाग अचानक से उस शक्ति से हटकर उस कटे हाथ वाले केस पर आकटिक गया एक बात तो उसे समझ में आ चुकी थी कि भले ही उसके पास अदृश्य शक्ति की ताकत है लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से इसके भरोसे बैठकर उस केस को नहीं सॉल्व कर सकता है जैसा आज हुआ उस हिसाब से तो उस शक्ति ने विक्रांत का ध्यान केस से हटाकर उस चोर को पकड़ने में लगा दिया और उसका समय खराब कर दिया था ऐसे में तो विक्रांत को बड़ी सावधानी के साथ काम करना होगा और बड़ी सावधानी से उस शक्ति का इस्तेमाल करना होगा काफी देर तक सोच विचार करने के बाद विक्रांत ने फैसला किया कि अब वो अपने दिमाग से इस कटे हाथ वाले केस को सॉल्व करेगा भले ही एक पुलिस डिटेक्टिव के रूप में उसके पास ऐसे केसेस का कोई अनुभव नहीं है लेकिन वो पहले गैंगस्टर भी रह चुका है और उसे मुजरिमों के बारे में थोड़ा बहुत अनुभव तो था ही ऐसे में वो अपने दिमाग से चाहे तो उसे पकड़ सकता था कुछ भी हो वो किसी भी हालत में पुष्कर से लगी बारह हजार रूपये की शर्त हारना नहीं चाहता था बारह हजार रूपये का इंतजाम वो एक बार किसी तरह से कर भी लेगा लेकिन पुष्कर के आगे अपनी इज्जत नहीं डुबा सकता था बात बारह हजार रुपयों से बढ़कर इज्जत की थी एक बार अगर वो शर्त हार गया तो पुष्कर उसका मजाक उड़ाकर हमेशा बेइज्जत करता रहेगा इसलिए विक्रांत ने बिना किसी देरी के उस केस से जुड़ी और भी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी केस से जुड़े कुछ जरूरी रिकॉर्ड ऑफिस में प्रिंट करवाकर घर ले आया और उसके बारे में गहन रिसर्च करने लग गया उसका नया घर काफी अच्छा था यहां बस उसे एक ही दिक्कत थी घर में वाईफाई नहीं था जिस वजह से वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था घर का मालिक महेश अपना नेट वाला काम फोन के डेटा से ही कर लेता था उसने घर में वाईफाई अपनी बेटी के चलते नहीं लगवाया था इंटरनेट के होने पर वो अपनी पढ़ाई छोड़कर हमेशा ऑनलाइन गेम खेलती रहती थी लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि उसकी बेटी रिया काफी चालाक थी उसने पड़ोस के घर में लगे वाईफाई का पासवर्ड पता कर लिया था और वो बड़े मजे से पड़ोसी का वाईफाई यूज करती थी विक्रांत को भी उसने पड़ोसी के वाईफाई का पासवर्ड दे दिया था अब विक्रांत ने नेट से उस केस से जुड़ी सारी जानकारी रिसर्च करके निकाल ली थी फिर उसने केस से जुड़ी एक एक चीज को जोड़कर अपनी तहकीकत शुरू कर दी पिछले साल 22 अप्रैल को बोरीवली शहर में फिटनेस जिम के पास स्थित एक ओवरब्रिज के नीचे पहली बार यह हाथ काटने वाली घटना सामने आई थी उस औरत का नाम कीर्ति चौधरी था और वो एक एमएनएस कंपनी के ऑफिस में काम करती थी वो वैसे तो दिल्ली में रहती थी लेकिन यहाँ मुंबई किसी म्यूजिक कंसर्ट को देखने के लिए आई हुई थी कीर्ति ने अपने बयान में बताया था कि वो रात को म्यूजिक कंसर्ट से बाहर निकली और उस ओवरब्रिज के नीचे से सड़क पार करके जा रही थी तभी अचानक से उसे किसी ने पकड़ लिया और जब उसे होश आया तो उसका दाहिना हाथ कटा हुआ था अपराधी ने उसके हाथ में बाकायदा पट्टी भी बांधी हुई थी ताकि ज्यादा खून निकलने से उसकी जान न चली जाए इस केस की सबसे अजीब बात यह थी कि यह घटना फिटनेस जिम के ठीक सामने हुई थी फिर भी उसके सीसीटीवी कैमरों में अपराधी की एक भी फोटो नहीं दिखी थी केस में पुलिस को अपराधी तक पहुंचने का एक भी क्लू नहीं मिल सका था वो एरिया ऐसा है कि वहां रात में भी काफी लाइट रहती है काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है वो सीसीटीवी में और लोगों के चेहरे साफ नजर आ रहे थे क्योंकि रात काफी ज्यादा थी और अधिकतर लोग अपने घर पहुंचने के लिए जल्दी में थे इसलिए केस में कोई भी ठोस गवाह नहीं मिल सका पुलिस इस केस की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई थी कि 26 अप्रैल को दोबारा से ठीक ऐसी ही घटना सामने आई दूसरी बार उस पियानो टीचर मनीषा चौहान का हाथ काटा गया जिसके साथ हाल ही में विक्रांत और सुनिधि ने पूछताछ की थी उसका केस तो और भी अजीब था वो अपने बेड पर लेटी हुई थी तब उसका हाथ काट दिया गया था उस दिन कुछ खास हुआ भी नहीं था मनीषा अपने घर का सारा काम खत्म करके अपने बेड पर लेटने के लिए गई और जब उसकी नींद खुली तो उसका दाहिना हाथ कटा हुआ था एक बार फिर से पूरे शहर में खौफ फैल गया मनीषा जहां अभी रह रही है उस वक्त वहां नहीं रहती थी तब उसका घर किसी मीडियम सोसाइटी वाली कॉलोनी में था लेकिन फिर भी वहां चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे तो लगे ही थे पुलिस में कॉलोनी में लगे एक एक कैमरे की फुटेज निकाल डाली लेकिन अपराधी का एक भी फुटेज सामने नहीं आया यहां तक पुलिस ने घटना के सात दिन पहले तक के सारे फुटेज खंगाल डाले फिर भी कुछ पता नहीं चल सका उस दिन मनीषा घर में अकेली थी उसके पति से उसका झगड़ा हुआ था और उसने अपने पति को ही घर से बाहर निकाल दिया था ऐसे में एक बार के लिए तो सभी का शक उसके पति पर ही गया लेकिन बाद में यह साबित हो गया कि उस वक्त वो बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था मनीषा का उसके पति के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था इस घटना के बाद उसका तलाक भी हो गया और अब वो अपने नए घर में अकेले रहती है जो कि शहर के पौश इलाके में मौजूद है मनीषा ने बताया था कि वो घर का डोर अंदर से लॉक करके सोई थी ऐसे में अनुमान था कि उसके डोर लॉक को तोड़कर ही अपराधी अंदर दाखिल हुआ था लेकिन फॉरेंसिक टीम ने जांच में पाया कि दरवाजे पर किसी भी तरह की जोर आजमाइश का कोई सबूत नहीं है यानी कि अपराधी के पास उसके डोर की चाबी मौजूद थी कुल मिलाकर इस केस ने हर किसी का दिमाग घुमा कर रख दिया था पुलिस काफी दिनों तक जांच पड़ताल करती रही लेकिन कुछ भी पता नहीं लग सका इसके बाद अपराधी एक साल तक ना जाने कहां गायब रहा और अब फिर एक साल बाद 22 अप्रैल को ही वो लौट कर आया है और फिर से उसी तरीके से घटना को अंजाम दिया है इस बार भी ना तो उसकी कोई भी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और ना ही कोई सबूत या गवाह मिल रहा है तीसरी विक्टिम का नाम मीणा बंसल था वो एक साधारण हाउसवाइफ थी उसका पति एक अनपढ़ अमीर था जिस रात वो एक पार्टी में गई हुई थी और वहां से वो अपनी बीएमडब्ल्यू कार से वापस अपने घर लौट रही थी तभी अचानक उसे किसी ने किडनैप कर लिया और फिर अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपनी कार में ही लेटी हुई थी उसका दाहिना हाथ गायब था कार सड़क किनारे खड़ी थी जैसे ही उसने अपना कटा हाथ देखा वो कार से निकलकर भागते हुए सामने के के रेस्टोरेंट में मदद मांगने के लिए पहुंची इस बार भी जहां उसकी कार रात में पार्क थी वहां प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे लेकिन अपराधी का एक भी फुटेज नहीं मिला था फील्ड रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई थी कि अपराधी पहले से ही मीना की कार में छुपा हुआ था और जब वो वापस कार में आई तो भी वो उसमें छुपा रहा और फिर थोड़ी देर के बाद मीना को बेहोश करके कार को ड्राइव करते हुए जुहू इलाके में पहुंच गया और फिर वहां पर मीना का हाथ काटकर उसे कार में छोड़कर फरार हो गया कुल मिलाकर इस बार भी उसने अपने पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ा था सारी केस स्टडी करने के बाद विक्रांत का सिर चकरा गया और उसे सुनिधि की कही बात याद आई ये कोई भूत ही है तभी किसी की पकड़ में नहीं आ रहा है अब विक्रांत को एहसास हो रहा था कि आखिर ये केस अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हो सका था पता नहीं ये केस सॉल्व होगा भी या नहीं हुस्न का जाल अगले दिन सुबह जब विक्रांत उठा तो सबसे पहले उसने सिगरेट जलाई ऐसा नहीं था कि उसे सिगरेट की लत थी दरअसल वो रोजाना सिगरेट इसलिए पीने लग गया था क्योंकि इसका कष्ट लेते ही उसे उस अदृश्य ताकत की आवाज सुनाई देने लगती थी और अगर उसे अपनी लॉटरी लगने का लालच ना रहा होता तो वो कभी सिगरेट नहीं पीता लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि शायद उसे सिगरेट की लत सी लग रही है कहीं ना कहीं वो उस पिछले जन्म वाले विक्रांत सक्सेना से प्रभावित हो रहा था आज उस अदृश्य शक्ति ने जो शब्द कहे थे वो था आग और जल एक साथ रहते हैं विक्रांत और सक्सेना साथ रहते हैं अच्छा और बुरा साथ रहता है हर बार की तरह इस बार भी विक्रांत बहुत जल्दी इन शब्दों को भूलने लगा लेकिन जो मूल शब्द उसने कहे थे वो उसे याद रहे और इन शब्दों के हिसाब से वो अपने आज के दिन के बारे में अनुमान लगाने लग गया आखिर आज क्या हो सकता है पहले विक्रांत किसी भी चीज को लेकर काफी ज्यादा सोच विचार किया करता था लेकिन इस वक्त वो किसी भी बारे में सोचकर अपना वक्त नहीं खराब करना चाहता था इसलिए आज क्या होने वाला है इसके बारे में अपना दिमाग लगाने के बजाय वो पूरा फोकस उस केस को सॉल्व करने में लगा रहा था उसका मानना था कि कुछ भी हो ये कटे हाथ वाला केस जरूर सॉल्व होगा और विक्रांत किसी भी कीमत पर अपने टीम हेड पुष्कर और अन्य मेंबर के आगे हार नहीं मानना चाहता था पूरी रात केस को लेकर अपना माथा मारने के बाद विक्रांत को एहसास हुआ कि इस केस के पुराने मामलों में कुछ भी रिसर्च करने को नहीं रह गया है पुलिस ने पहले ही वहां काफी कुछ खोज डाला है और वहां से कुछ नहीं मिला है अब अगर इस केस में कुछ मिल सकता है तो वो इस साल 22 अप्रैल को हुए केस में से ही कुछ मिलेगा इसलिए विक्रांत ने निश्चित किया कि अब वो इस केस के बारे में अपनी तहकीकात का आधार इस नए केस को ही बनाएगा इसलिए आज उसने मंजू के पास जाकर इस केस से जुड़ी और भी जानकारी लेने का निश्चय किया क्योंकि वो ही इस केस की सॉल्विंग टीम की हेड थी आज वो जल्दी सोकर उठ गया था और ऑफिस जाने में अभी काफी वक्त था इसलिए विक्रांत ने पहले तो अपने लिए चाय बनाई और फिर चाय की प्याली के साथ अपने तीसरी मंजिल की बालकनी में कुर्सी लगाकर बैठ गया ये बालकनी काफी बड़ी थी तकरीबन 50-60 मीटर स्क्वायर छत खुली हुई थी पूर्व की दिशा से हल्की हल्की धूप आनी शुरू हो चुकी थी जो सीधे विक्रांत के गालों पर गर्मी का एहसास करा रही थी विक्रांत को जब कुछ गहराई से सोचना होता था तो वो चाय पीने के साथ ही ऐसा करता था अपनी बालकनी में वो चाय सुरखते हुए अपना दिमाग दौड़ा रहा था इस छत से ही पड़ोस के घर का छत भी सटा हुआ था उन दोनों छतों के बाउंड्री पर लोहे की मोटी जाली लगी हुई थी जिससे आराम से आर पार देखा जा सकता था विक्रांत वहां बैठकर केस के बारे में कुछ सोचने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसे बगल छत पर किसी के होने का एहसास हुआ जब उसने वहां देखने की कोशिश की तो देखा कि वहां एक लड़की कानों में ईयरफोन लगाए और हाथ में बिल्कुल न्यू मॉडल आईफोन लेकर घूम रही थी उसने व्हाइट कलर चिपकी हुई पैजामी पहन रखी थी और ऊपर बैंगनी रंग का टाइट टॉप पहना हुआ था दूर से ही उसे देखकर उसके फिगर का अंदाजा लगाया जा सकता था उसकी पैजामी सेमी ट्रांसपेरेंट थी जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने अंडरवियर भी नहीं पहना हुआ था उसकी जांगों और कमर का उभार विक्रांत को साफ नजर आ रहा था यहां कमरा रेंट पर लेने से पहले ही विक्रांत ने पता कर लिया था कि इस इलाके में काफी खूबसूरत लड़कियां रहती हैं लेकिन पहले ही दिन उसे ऐसा हसीन नज़ारा देखने को मिल जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी लड़की की उम्र कोई बीस बाईस साल के करीब रही होगी उसे कहीं से भी ये पता नहीं चला था कि ये रात भर डिस्को और पार्टी में रहती है क्योंकि विक्रांत इस तरह की लड़कियों के बहुत से केस देख चुका था इसलिए उसे एक नज़र देखते ही उसे अंदाजा लग गया था कि ये आम घरेलू लड़कियों जैसी नहीं है उस लड़की के मेकअप को देखकर विक्रांत को अंदाजा हो गया था कि ये गलत काम धंधे वाली लड़कियां हैं आखिर तभी तो इनके पास इतना पैसा है इतने महंगे फोन इतना मेकअप ये सब इसी का नतीजा था उस घर में चार लड़कियां एक साथ रहती थी और चारों के फिगर और चार ढाल एक जैसे ही थे विक्रांत बड़े ध्यान से उस लड़की की तरफ देखे जा रहा था उस लड़की की नजर भी विक्रांत पर पड़ गई विक्रांत को देखते ही उसने मुस्कुरा दिया विक्रांत ने भी ना चाहते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी और अपनी नजर दूसरी तरफ फेर ली लेकिन शायद इस पैजामा परी की मंशा कुछ और ही थी वो अपने कदम बढ़ाते हुए विक्रांत की तरफ चली आई और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा ओह तो चाय का मजा और हल्की धूप का आनंद लिया जा रहा है वाह वैसे आप यहाँ नए लग रहे हैं आखिर उस मोटे हरामी को किराएदार मिल ही गया विक्रांत उससे बात करने के मूड में नहीं था उसने बस मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया लेकिन वो बाला विक्रांत को यूं ही नहीं छोड़ने वाली थी क्या करते हैं आप पुलिस डिटेक्टिव भी कह सकते हो विक्रांत ने चाय की एक चुस्की लेते हुए कहा कि नौकरी के बारे में बताते हुए गर्व हो रहा था ओ ढिच क्यों फिर तो गोलियां चलाते होंगे आप ah by the way um Monica लड़की ने कहा oh Monica Monica oh my darling कहीं आप यही वाली मोनिका तो नहीं विक्रांत ने उसका मजा लेते हुए कहा तो फिर मुझे आपकी किसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आप आओगे ना उस लड़की ने विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा विक्रांत भी लड़कियों के मामले में काफी उस्ताद था उसने तपाक से उत्तर दिया नहीं उसका जवाब सुन मोनिका को काफी अजीब लगा आखिर ये कैसा इंसान है जहां लोग उससे बातें करने को तरसते हैं एक इशारे पर सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं वहीं ये आदमी तो उसे घास ही नहीं डाल रहा है मोनिका ने तुरंत ही पूछ डाला लेकिन क्यों क्योंकि मैं पुलिस वाला जासूस हूँ और मैं सिर्फ मरे हुए लोगों से ही मिलता हूँ इतना कहकर विक्रांत वहां से उठा और अपने कमरे में चला गया मोनिका उसे जाते हुए बड़े ध्यान से देखती रही विक्रांत के एटीट्यूड ने उसे काफी प्रभावित किया ऐसा नहीं था कि विक्रांत का लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था या मोनिका उसे अच्छी नहीं लगी दरअसल वो इसलिए उससे ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहता था क्योंकि उसके टाइप की लड़कियां विक्रांत की मुसीबत बढ़ा सकती हैं अगर बाहर किसी ने विक्रांत को उस लड़की के साथ देख लिया तो फिर उसका जीवन नर्क हो जाएगा ऐसी लड़कियों के चक्कर में पड़ने से वो सिर्फ उनका आदि होकर रह जाएगा और समय के साथ अपना पैसा भी बर्बाद करता फिरेगा और अंत में ये लड़कियां किसी की होती भी नहीं है इन्हें बस पैसे की भूख होती है जब भी विक्रांत ऐसी किसी सिचुएशन में पड़ता है तो उसे अपने सीनियर की कही बात याद आ जाती है जो हमेशा कहते थे कि कभी भी अपने पड़ोसी के साथ इश्क नहीं लड़ाना चाहिए और खासतौर पर जिस्म बेचने वाली लड़कियों से तो कोसों दूर रहना चाहिए विक्रांत किसी भी कीमत पर मोनिका के करीब नहीं जाना चाहता था वो जानता था कि अगर वो चाहे तो एक पल में ही मोनिका उसके बिस्तर में आ जाएगी लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि पल भर की खुशी के चक्कर में वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लेगा और फिर ये केस सॉल्व करना तो दूर उसकी नॉर्मल लाइफ भी मुश्किल में पड़ जाएगी वैसे अगर मोनिका कोई कॉलेज स्टूडेंट रही होती या कोई शरीफ लड़की रही होती तो वो एक बार उसके बारे में सोच भी सकता था वैसे भी अभी हाल ही में अपनी पुरानी लवर जिया से मिलकर आया था और कहीं ना कहीं वो अब भी जिया से प्यार करता है ऐसे में भला वो अपने प्यार को कैसे छोड़ सकता है एक बार ये कटे हाथ वाला केस सॉल्व हो जाए उसके बाद वो अपना पूरा फोकस जिया पर ही लगाएगा किसी भी हालत में जिया को अपनी लाइफ में वापस लाकर ही मानेगा तो क्या वाकई वापस आएगी जिया विक्रांत की जिंदगी में जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को